अरे उ महे लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत धाये कपि समीपयति आतुरयाय विकल बिलोकि किस लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा न मन भय दुखारे कहत बचन भरी लोचन बारी बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे तब भरत जी का मुख उदास हो गया वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले जहि विधि राम विमुख मोहि की पुण्य हृण दुख दे जौ मोरे मन बचय रुकाया प्रीति राम पद तौ कपि हो विगत समसूला जमो पर रघु प्रतियनुकूला सुनत जन उठी बैठ बचन उठ कहि जय जयति कौशलाधेशा जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति थे रामचंद्र जी की जय हो जय हो कहते हुए उठ बैठे लेन कपे पुलकित तनुलोचन सजल प्रेति नृदय समाय मेरे राम रघुकुल तिलक भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी तात कुशल कहू सुख निधान के सहित अनुजय मातु जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछताने अह देव मैं कत जग जायऊँ प्रभु के ये कहू का जन आय जाने कुर मन धर धेरा पुन कपिशन बोले बलबीरा भरत जी बोले हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी काम न आया फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले तात कहू हो यही तो ही जाता काजु नयहि होत प्रभात प्रभाता मम सायक शैल समेता कृपा तोहि जेता पिमन उप जयाभिमाना मोरे भार चलिः किमि राम प्रभाव बेचारे बहोरे बंदी चरण कह कपि कर जोरी हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले तव उर राखे प्रभु जय हुनाथ तुन्त् अस कह्याय सुपाय पद दन्दे चलु हनुमन्त् भरत बाहुबलशीलगुणन प्रभुपद प्रीति अपार मन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं